जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया उनके आमाल की मिसाल उस राख की तरह है जिस पर एक आंधी वाले दिन में तुंद हवा चल पड़े जो भी उन्होंने कमाया था उसमें से वो किसी पर कादिर नहीं होंगे यही दूर की गुमराही है